मुनि कहु राम दण्डवत केनाशीर्बा आशीर्वाद बे प्रवर दीनाम् देखि राम छवि नयन करि सन बाणु सनबानश्रमहि मुनि बर यतिथि प्राण प्रिय पाये कंदमूल फल मधुर मगाए सिय सौमित्र राम फल खाए तब मुनियाश्रम दिए सुहाए श्री रामचंद्र जी ने मुनि को दंडवत किया विप्रश्रेष्ठ मुनि ने उन्हें आशीर्वाद दिया श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर मुनि के नेत्र शीतल हो गए सम्मानपूर्वक मुनि उन्हें आश्रम में ले आए श्रेष्ठ मुनि वाल्मीकि जी ने प्राण प्रिय अतिथियों को पाकर उनके लिए मधुर कंद मूल और फल मंगवाए श्री सीता जी लक्ष्मण जी और रामचंद्र जी ने फलों को खाया तब मुनि ने उनको विश्राम करने के लिए सुंदर स्थान बतला दिए मन आनन्द भारे भारि मूरते नयन कर कमल जोरि रघुराई सुने बचन श्रवण सुखदाय तुम त्रिकाल दर से मुलनाथा विश्व बदरज में तुम रे हाथम अस कही प्रभु सब कथा बखारी जय जय भारत दीन बनुरानी मुनि श्री रामचंद्र जी के पास बैठे हैं और उनकी मंगल मूर्ति को नेत्रों से देखकर वाल्मीकि जी के मन में बड़ा भारी आनंद हो रहा है जब श्री रघुनाथ जी कमल सदेश हाथों को जोड़कर कानों को सुख देने वाले मधुर वचन बोले हे मुनिनाथ आप त्रिकालदर्शी हैं संपूर्ण विश्व आपके लिए हथेली पर रखे हुए बेर के समान है प्रभु श्री रामचंद्र जी ने ऐसा कहकर फिर जिस जिस प्रकार से रानी कैके ने वनवास दिया वह सब कथा विस्तार से सुनाई तात बचन पूर्णिमा हित भाई भरत यसरा मोकह दरस तुम्हार प्रभु सब मम पुण्य प्रभा और कहा हे प्रभु पिता की आज्ञा का पालन माता का हित और भरत जैसे स्नेही एवं धर्मात्मा भाई का राजा होना और फिर मुझे आपके दर्शन होना यह सब मेरे पुण्यों का प्रभाव है देख पाय मुनि राय तुम्हारे भय सुकृत सब सुफल हमारे अब जहाँ राव राउर आय सुहो बेगु न पावे कोई मुनि तापस जिन ते दुख लहे ते नरेश बिनु पावक दहे मंगल मूल बे प्रपरितो जो दहि कोटिकुल हो सुर रोसु हे मुनिराज आपके चरणों का दर्शन करने से आज हमारे सब पुण्य सफल हो गए हमें सारे पुण्यों का फल मिल गया अब जहाँ आपकी आज्ञा हो और जहाँ कोई भी मुनि उद्वेग को प्राप्त न हो क्योंकि जिनसे मुनि और तपस्वी दुख पाते हैं वे राजा बिना अग्नि के ही अपने दुष्ट कर्मों से ही जलकर भस्म हो जाते हैं ब्राह्मणों का संतोष सब मंगलों की जड़ है और भूदेव ब्राह्मणों का क्रोध करोड़ों कुलों को भस्म कर देता है असजिय जान कहिय सोय सिय सौमित्र सहित जह जाओ तहर चिरुचिर परण तिन शाला करो कछु काल कृपाला सहज सरल सुने रघुबर बाने साधु साधु ले मुनि ज्ञानी कस न कहुअस रघुकुल के तो तुम पालक संतत श्रुति से तू ऐसा हृदय में समझकर वह स्थान बतलाइए जहाँ मैं लक्ष्मण और श्री सीता जी के सहित जाऊँ और वहाँ सुंदर पत्तों और घास की कुटी बनाकर हे दयालु कुछ समय निवास करूँ श्री रामचंद्र जी की सहज ही सरल वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि वाल्मीकि बोले धन्य धन्य हे रघुकुल के ध्वजा स्वरूप आप ऐसा क्यों न कहेंगे आप सदैव वेद की मर्यादा का पालन रक्षण करते हैं श्रुति से तु पालक राम तुम जगदीश माया जान के जो सृजत जग पालत हरति रुख पाए कृपा निधान की जो सहस शिशु अहेश महि धरु दखन सचराचर धनी सुरकाज धरि नरराज तनु चल दलन खलन से चरयनी हे राम आप वेद की मर्यादा के रक्षक जगदीश्वर हैं और जानकी जी आपकी स्वरूप भूता माया हैं जो कृपा के भंडार आपके रुख पाकर जगत का सृजन पालन और संहार करती है जो हजार मस्तक वाले सर्पों के स्वामी और पृथ्वी को अपने सिर पर धारण करने वाले हैं वही चराचर के स्वामी शेष जी लक्ष्मण हैं देवताओं के कार्य के लिए आप राजा का शरीर धारण करके दुष्ट राक्षसों की सेना का नाश करने के लिए चले हैं राम स्वरूप तुम्हार बचन अगोचर बुद्धि पर अभिगत यकथय पार नेति नेति नित निगम कह हे राम आपका स्वरूप वाणी के अगोचर बुद्धि से परे अव्यक्त अकथनीय और अपार है वेद निरंतर उसका नेति नेति कहकर वर्णन करते हैं